بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا أهده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما نبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي ربي صل وسلم دائما نبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الله تبارك وتعالى جل جلاله وأما نواله وأتم برهانه وعظم شانه वजल जिक्रू वाज इश्मू की हमद सना और हजूर सरवर कायनात माफकर मौजूदात जीनत बज़म कायनात दस्तगीर जहां गम गुसार जमां सैद सरवरा हामी बेकसम कायदुलमरसलिन खातमनबीजीन अहमद मुशतबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसलम कि दरबार गौहर बार में हदिया दरुदुलसलाम अर्ज करने के बाद रबाल का करोड़ों बार शुक्र है कि उसने हमें माह रमदान मुबारक के अशरा मफफरत में नमाज जुमा की तोफ़ी अता फरमाई खाल के कायनात जल्ला जलालहू ने नजूल कुरान के महीने में हमें कुरान फाहमी का ये मौका आता फरमाया खाल के कायनात जल्ला जलाल उसे दुआ है कि वो हम सबको सेहत आफियत के साथ इस मुकदस महीने में ज्यादा से ज्यादा इबादत की तोफीक अता फरमाए और इस अजीम मेहमान की ज्यादा से ज्यादा मेजबानी का हमें शर्फ अता फरमाए आज हमारा खुतबा जुमतुल मुबारक में मौजू है मफहूम कुरान बदलने की वारदात किस्त नंबर बारह साल हर साल से रमदान मुबारक में एक मौजू मफहूम कुरान से मुतलक होता है और आज उसी तसलसल का ये हिस्सा है कि एक आया करीमा की तशरी आपके सामने पेश की जाएगी मफहूम कुरान मजीद के लिहाज से वारदात का सिलसिला बड़ा पुराना है और सदियों की तारीख में ऐसे बहुत से वाक़ात हैं कि कुरान मजीद बुरहान रशीद को पेश करके लोगों ने अपने गलत मकासद पूरे किए और अपनी गलत सोच पर कुरान मजीद का कबर चढ़ाकर उन्होंने लोगों के लिए अपनी गलत सोच को काबिल कबूल बनाया जिसकी वजह से उम्मत में इंतशार और इफ्तराक कई हवा चलती रही और जिसकी आज भी तपश महसूस हो रही है इस सिलसिला में अहल हक पर यह लाजिम है और हर दौर में अहल हक ये काम करते आए हैं कि जहां भी किसी ने कोई अमेजश की है और अपनी तरफ से मफाहिम घड़ के उन पर कुरान मजीद का कवर चढ़ाया है तो हक परस्तों ने वो पर्दे चाक किए बल्कि सैयद आलम नूर मुजस्म शफी मज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हकीकी वारिस उसी आलम दीन को कहा कि जो ऐसे जो नजरियात हैं उनको पीछे हटा के दीन की हकीकी रोशन को वाजे करें यकीनन वो लोग अजीम हैं और हम तो उनकी खाके पा हैं जिनके बारे में सैयद आलम नूर मुजस्म शफी मजम सल्ला वसलम ने फरमाया यह मिलो हाजल इल्म मिन कुल्ले खलफिन उदूल यनफून अनहू तहरीफ अलगालीन वनतहाल अलमुबतलीन व तवील अलजाहलीन फरमा मेरा ये इल्म हर नई नस्ल के लोग उनमें से जो आदिल हैं वो इस इल्म को हासिल करते रहे यानी ये गैब की खबर थी और क्यामत तक के हर दिन की खबर थी क्यामत तक मेरी उम्मत बांझ नहीं होगी कि इसमें ओलमा तैयार ना इसमें ओलमा पैदा होते रहेंगे उनका काम क्या होगा रजनफून अन हो वो इस दीन में जो मिलावट हो चुकी होगी उस मिलावट को दूर करेंगे यनफून अन हो तारीफ अल गालीन वन तिहाल अल मुबतरीन व तावील अल जाहिरीन तीन नाम लिए कि गाली लोगों ने जो दीन में तहरीफ की होगी वो उस तहरीफ से दीन को पाक करेंगे वन तिहाल अल मुबतलीन बातल परस्तों ने जो दीन में हीला साजी की होगी मेरे वो वारिस उस हीला साजी को खत्म करेंगे व तावील अल जाहिलीन और जाहिल लोगों ने जो तावीलें घड़ ली होगी मेरा वो वारिस उस घड़ी हुई तावीलों को दूर करके दीन की हकीकी रोशनी लोगों तक पहुंचाएगा यकीनन हर अहद का मुजद अपने हिस्से का यह काम करता है और हम उन मुजद्दीन के कारकुनान हैं कि जो अपने अहद के काम करते हैं तो उनकी तरफ से दी हुई ड्यूटी उनके कारकुन आगे उनकी तरफ से उसको सर अंजाम देते लिहाजा मुजद्दीन और बिलखसूस मुजद अल्फसानी जो इस हजार साल के मुजद है वो हमारे सिलसिला तरीकत में मूर से आला और फिर हजरत इमाम अहमद रजा खान बरेलवी रही तला और इमाम फजला खैराबादी जो सिलसिला दरसो तदरीस में ऊपर हमारा सरचश्मा है और पीछे वो मुजद्दीन की पूरी जमात हर सदी की कि जिन्होंने अपने अपने अहद में ऐसे उमूर सर इंजाम किए और अल्लाह का फजल है इन शाह क्यामत तक इस रोशनी को आम किया जाएगा और क्यामत तक वो तमाम शोबे जो तावील के हों या तहरीफ के हों या इंतहाल के हों हिलासाजी के हों उनके जवाब और उनके जो मजाले में उनका पर्दा चाक करने का सिलसिला जारी रहेगा क्योंकि ये मकाम बहुत हसास मकाम है कि जिस वक्त किसी के सामने कुरान पढ़ा जा रहा हो तो अब अगले की क्या मजाल है कि उसे गौर से ना सुने जब किसी के सामने कुरान मजीद खोल के दिखाया जा रहा हो तो अब अगला मोमिन है तो वो कितने अदब से उसको सुनेगा और अपना आप उस मुबल्ले के सामने पेश कर देगा कि ये मेरा दिल है जो चाहो तुम इस पर लिख लो जो तुम कुरान मजीद से लिखना चाहते हो लेकिन ये उस बातिल परस्त मुबल्लिग या उस सकालर का ये सबसे बड़ा जुल्म है कि जिस वक्त अगले ने सीना खोल के सामने रख दिया है और ये रब के हुक्म की बजाय अपनी ख्वाहिश का मजमून लिख देता है और अपने घड़े हुए नजरियात और अपनी बातिल सोच के अल्फाज उसकी नूरानी तख्ती पे लिखता है इससे बड़ा कोई खाइन नहीं इससे बड़ा कोई गद्दार नहीं और इससे बड़ा कोई जालिम नहीं जो लोगों के ऐसे पाकिजा जज्बात से खेलता है और लोगों की ऐसी मुकदस तख्तियों को अपनी गंदी सोच से वो जहर आलूद करता है इस सिलसिला में हजरत सैदना उम्र फारूक रदी अल्लाह तह का एक कौल आपके सामने पेश करना चाहता हूं ताकि तबाह को मजाज को इस सिलसिला में मजीद सुकून हासिल हो कि आखिर ऐसा हो सकता है कि कुरान मजीद को लोगों के शिकार के तौर पर उनको जाल में फंसने के लिए पेश किया जाए और इसके जरिए से अपने गलत मतालब और गलत मकासद जो हैं उनको इसके जरिए से लोगों तक पहुंचाया जाए सैदना उम्र फारूक रदी अल्लाह तहु आपने एक दिन हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह तहु से इस सिलसिला में बात की और मुकम्मल इस बहस को आगे बढ़ाया हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह तु सैदना उमर फारूक रदी अल्लाह तु के पास बैठे हुए थे और सैदना फारूक आजम रदी अल्लाह तु जो उम्मत में इफ्तराक और इंतशार आने वाला था उसके लिहाज से हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तला सोच रहे थे और नहायत ही अच्छे अल्फाज आपने इस्तेमाल किए इसको हदीस शरीफ की मुतद किताबों में जिक्र किया गया है बिलखसूस इमाम बहकी ने इसको रवायत किया खतीब बगदादी ने भी इसको जिक्र किया इमाम सजूती ने अपनी जाम कबीर में इसका जिक्र किया कि हजरत उमर रदी अल्लाह तहु खला उमारो जाता यौमिन एक दिन सबसे जुदा होके बैठ गए किसी को अपने पास नहीं बैठने दिया और सोच में पड़ गए फजाला युहद नफसहू अपने दिल से बातें कर रहे जिस तरह इंसान तन्हाई में बैठकर सारे ख्याल निकाल के अपने आप से बात करता तो हजरत सैयद उमर रजी अल्लाह तु अपने दिल में अपने आप से बात कर रहे थे कई फा हाजिल उम्मा दिल में यह बात सोची कि इस उम्मत में भला इख्तलाफ कैसे होगा कि जिसकी खबरें रसूल अल्लाह वसल्लम दे चुके हैं तो इस उम्मत में इख्तलाफ कैसे हो सकता है वह नबी युहा वाहिद हालांकि नबी एक है या तो होते के पहलों के नबी और हैं और दसवीं सदी वालों के नबी और हैं चौदहवीं वालों के और हैं तो फिर महाज अल्लाह ऊपर एक फेडरेशन होती नबियों की और फिर उम्मत के हिस्सों का इख्तलाफ हो जाता कह लगे जब हमारे नबी अलैहिस्सलाम की जलवागरी के बाद नबी आ ही कोई नहीं सकता और आप आखिरी नबी हैं जब हमारे नबी एक हैं तो फिर इख्तलाफ कैसे है और किताब हमारे पास है इख्तलाफ कैसे हो सकता है आप काफी देर सोचते रहे और फिर आपने हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह तला की तरफ पैगाम भेजा कि तुम ये मेरा मसल हल करो क्योंकि मैं हजरत उमर रदी अल्लाह तला का जो इलमी ओक के बारे में मेरी वो किताब जहाँ छपा उसमें भी लिखा और बाकी मुख्तलिफ कुतब में बुखारी शरीफ में इसका जिक्र है कि जब अशरा मुबशरा की मीटिंग होती थी हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह तला के अहद में जितने जिंदा थे उस मीटिंग में जो सारे से आबा का नचोड़ है उनमें आगे जिस कुर्सी पे बिठाया जाता था जिसको वो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास थे हालांकि आपके बारे में एक दिन ये कह दिया हजरत अब्दुलरहमान बिन औफ ने कह दिया कि उमर देखो इनकी उम्र के तुम्हारे पोते भी हैं और तुम हम बुजुर्गों की मीटिंग में इनको आगे बिठा लेते हो तो हजरत उमर रदी अल्लाह तु ने कहा कि इनकी दो नस्बतें हैं जो मुझे मजबूर करती हैं एक तो जो इनका तल्लु खानदान नबूबत से है वो तुम्हारा नहीं है और दूसरा जो इनको रब ने अकल दी है वो तुम्हारी अकल नहीं है इनकी उस रोशन सोच की बुनियाद पर मैं इनको आगे बिठाता हूं तो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह तला के सामने अमीर उलमोमिन ने यह अपना मसला पेश कर दिया जब नबी एक है तो इस उम्मत में इख्तलाफ कैसे हो सकता तो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह तु ने बात सुनी कई फतह तलिफ हाजिर उम्मा व नबी हुआ वाहिद व किबला तुहा वाहिदा नबी भी एक है किबला भी एक एक ही तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं नबी भी एक है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो फिर इख्तलाफ कैसे हो जाएगा फकाल अबन अब्बास या अमीर अलमोमिन इन्ना उन सिला कुरान फकर अनाहू अमीर अलमोमिन हमारे सामने कुरान नाजिल हुआ और हमने वो कुरान रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पढ़ा वह अलिम नाफीमा नाजाला हमें पता है कि आयत किस बारे में नाजिल हुई है हम गवाह हैं हमारे सामने नाजिल हुआ चलो कुछ मजलिस में नहीं थे लेकिन उन्होंने जो मजलिस में बैठे थे उनसे सुन लिया कि फुलां लफ्ज है उसका माना क्या है इस आयत का पस मंजर क्या है ये किस बारे में नाजिल हुई है क्योंकि आयत के अल्फाज तो ऐसी एक चीज है उसे जहां उठा के जिस बारे में फिट कर दोगे पस मंजर हटा के तो वही बात फिर लोग साबित कर लेंगे कि आयत उतरी है इस बारे में जिस तरह कलाम का रुख बदला जाता है तो उसके बाद अब मुखातब बदल दिया जाए तो इससे बहुत जल्द कितने पैदा हो जाते आप एक मजलिस में एक बंदे को मुखातब करके आप उसे कहते हैं कि तू ने यह जुर्म किया और वो जुमला आपका उठा के कोई ले जाए और किसी दूसरी तरफ मुंह करके कहे कि फुला कह रहा था तूने यह जुर्म किया तो अब जुमला तो सही है लेकिन रुख के नाम का बदला गया है तो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह तु कहने लगे अमीर उलमोमिन ठीक है कुरान एक है मगर फितना इसलिए पैदा होगा जब लोगों को यह पता नहीं चलेगा कि आयत नाजिल किस बारे में हुई है हम तो सामने आज इसलिए फितना नहीं अमीर उलमोमिन कि हमारे सामने उतरा हम गवाह हैं हमारे पास उतरा हमें इसके अल्फाज का पता है कि किस लफ्ज कौन से माने में इस उर्फ में इस्तेमाल होता है जिसमें कुरान नाजिल हो रहा है लेकिन जब कई सदियां गुजर जाएंगी जब कई साल गुजर जाएंगे जो लोग बाद में पैदा होंगे जो इस माफिल में आज शरीक नहीं है उनके सामने पस मंजर नहीं होगा जब उनको कोई गलत पस मंजर सामने रख के आगे आयत फिट कर देगा वो समझेंगे शायद इसी बारे में उतरी है तो एक कुरान फिर कई सोचों में बट जाएगा एक वो अंदाज जिसके बारे में आज उतरा है और फिर वो सैकड़ों अंदाज जो बाद वाले अपनी घड़ी हुई सोच के मुताबिक पहले अपनी सोच तैयार करेंगे ऊपर से आयत फिट कर देंगे तो इस अंदाज में कहा अमीर उलमोमिन इख्तलाफ तब पैदा होगा अगरचे किबला एक है अगरचे नबी एक है अगरचे कुरान एक है मगर कुरान मजीद के बारे में जब वारदात की जाएगी और कुरान मजीद की आयात को गलत पस मंजर में पेश किया जाएगा और कुरान मजीद जिस बारे में उतरा है उससे हटाकर किसी और मकसद के लिए जब सच्ची आयत को पेश किया जाएगा तो मफहूम झूठा निकलेगा और इस बुनियाद पर उम्मत में इख्तलाफ पैदा हो जाएगा वनहू सयकून बादाना अकवाम कहा हमारे बाद कौम में आएंगी ये हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास की बसीरत हमारे बाद कौम में आएंगी तो इन लफ्जों से पता चलता उस वक्त यह इख्तलाफ नहीं था जो होना था उसके बारे में अमीर उलमोमिन सोच में पड़े हुए थे और इबन अब्बास कहने लगे ये सूरत हाल है हमारे बाद अकवाम आएंगी ला यदरू नफी मा नुजिला उन्हें पता नहीं होगा कि किस बारे में आयत उतरी है वो बाद में पैदा हुए वो गवाह नहीं है नजूल कुरान के फयकून लहुम फी है राइज तो वो फिर अपने तौर पर उसका कुशान नजूल बनाए अपने तौर पर उसके लिए कोई तावील करेंगे अपने तौर पर उसका कोई पस मंजर बनाएंगे फाइजा कान लहुम फी रायुन और जो ही वो अपनी तरफ से बनाएंगे तो अमीर उलमोमिन इख्तलाफ उसी वक्त तो हो जाएगा एक वो है जो पहले हम जानते हैं कि किस बारे में नाजिल हुई एक वो है जो बाद वाली कौम बनाएगी कि यह किस बारे में नाजिल हुई अब हकीकत वो है जो हम जानते हैं और झूठ वो है जो उन्होंने बनाया लेकिन ऊपर आयत फिट कर रहे हैं कि यह आयत नाजिल इस मसले के बारे में हुई है ये आयत नाजिल इस मफहूम में हुई है मिसाल के तौर पर एक आयत जो नाजिल हुई है बुत के बारे में सिहाबा जानते हैं कि यह बुतों के बारे में अब बाद में कौम आ गई उन्होंने उसको खेच के वलियों पर फिट कर दिया तो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह तु ने अमीर उलमोमिन उम्र फारूक को यह बताया कि यह है सूरत हाल उम्मत के अंदर इंतशार और इख्तलाफ की कि जिस वक्त लोग जो नजूल कुरान के गवाह नहीं हैं वह अपनी तरफ से कुरानी आयात का पस मंजर जब तैयार करेंगे तो इस वजह से उम्मत में इफ्तराक फिरका वारियत और इंतशार आ जाएगा फ़लाफू फ़ा इजा इख्तालाफू ये कता तलू तो कामिर फिर बात सिर्फ तर्जमे तक नहीं रहेगी और बात सिर्फ तफसीर तक नहीं होगी आपस में किताल हो जाएगा आपस में झगड़ा हो जाएगा आपस में लड़ाई हो जाएगी चूंकि फर्क जमीन और आसमान का फर्क जमीन और आसमान का है एक तरफ जिन जवाब को अल्लाह ने सिरात मुस्तकीम का मीनार बनाया और सिरात मुस्तकीम उनके नाम लगा दिया सिरात अल्लाजीन अनआमता अलहिम कहा है और दूसरी तरफ उन्हीं को जब कहा जाएगा कि ये शिरक फैलाने वाले हैं और ये दीन में इंतजार पैदा करने वाले हैं और उन्हीं पर जिस वक्त फिर वो बुतों वाली आयात चश्मा की जाएंगी एक तलु इख्तलाफ होगा इख्तलाफ के बाद फिर झगड़ा इसमें शुरू हो जाएगा हजरत सईद उमर रदी अल्लाह तु ने यह जवाब सुना तो जाबा राहू उमर आपने इसको मुस्तरद कर दिया इबन अब्बास तुम्हारी बातें मैं मान लेता हूं मगर यह बात मैं नहीं मानता कि इस तरह की सूरत हाल जिसका तुम मेरे सामने एक जायजा पेश कर रहे हो अब देखो आज आपकी जहानत इस बात को आसानी से कबूल कर रही है जो हजरत हजरत इबन अब्बास ने कहा था कि ऐसा होगा चूंकि अब हो चुका है और हो रहा है लिहाजा जहन फौरन कबूल कर रहा वो साहेब राय वाले उमर के जो तजवीज पेश करे तो आयत नाजिल हो जाए उनकी जहानत यकीनन बहुत बड़ी जहानत लेकिन उस वक्त के हालात उस वक्त का तकदस उस वक्त जो कुरान मजीद का नूर है उस वक्त जो कुरान मजीद की वजह से सरूर है हजरत उमर का दिल मानते ही नहीं कि ऐसा भी हो जाएगा कि कुरान पढ़ के कुएं जहरीले किए जाएंगे और कुरान पढ़ के लोगों के ईमान लूटे जाएंगे और कुरान पढ़ के आपस में जंगे कर दी जाएगी यह कैसे हो सकता है हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास को झिड़की भी दी वन जबा रहू बात मानने से इनकार कर दिया और कहा नहीं बिन अब्बास ये बात दुरुस्त नहीं है हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास घर चले गए फन सारा इबन अब्बास व ना सारा ओ मारो फी मा काला इबन अब्बास घर चले गए उम्र फारूक तनहा बैठ के सोचने लग गए कि ये इबन अब्बास जो कुछ कह गया है इसके बारे में सोचना तो चाहिए कि आखिर ये वो इंसान है जिसे गुट्टी नबी सलाम ने अपने लुआब दहन से दी हुई है और इतना बड़ा तर्जमान उम्मत है तो इसने बात जो की है इसे सोचना तो चाहिए काफी देर गुजर गई सोचते सोचते वना जरा उमर फी मकाला आराफा फिर हजरत सैदन उमर रदी अल्लाह तला का सीना भी इस बात को कबूल कर गया कि इबन अब्बास जो कह के गए हैं सच कहा फार फारसला है अपने खादिम को भेजा जाओ इबन अब्बास को बुला के ले आओ हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह तला पहुंचे तो हजरत उमर रदी अल्लाह तु ने कहा अद मा कुलता अब दोबारा वो बयान करो जो पहले बयान करके गए कि उम्मत में इख्तलाफ कैसे पैदा होगा इख्तलाफ की बेस क्या होगी इख्तलाफ के इसबाब क्या होंगे फिरका बारियत क्यों इसका जहर उम्मत में आ जाएगा यह दोबारा मेरे सामने बयान करो तो हजरत सईदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तु ने दोबारा बयान किया फ़ादहू अलह दोबारा इसका बयान किया फ़ाराफा उमर कऊलहू व आजाबाहू अब हजरत उमर रजी अल्लाह तु ने उस बात को तस्लीम भी किया और इबन अब्बास को शाबाश भी अदा फरमाया और बड़ा पसंद किया कि तुमने मसले का हल बहुत अच्छे तरीके से किया अब इसको जो मुतद माखिज से मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं ये सिर्फ इसलिए कि आज जिस वक्त ये मजमून हम छेड़ते हैं तो कुछ लोग सोचते हैं कि आखिर यह कैसे हो सकता है कि कुरान से भी गुमराही मिलती है कुरान तो हिदायत देने आया कुरान तो किताब हिदायत है भला कुरान पढ़ के भी गुमराह हो सकता तुम हमें फुला फुला के दर्श से रोकते हो हालांकि दर्श कुरान में तो हिदायत ही होती है तो मैं इस वास्ते ये मंजर आपके सामने पेश कर रहा हूं कि मेरे नबी सलाम ने फरमाया मुझे उम्मत पर कुरान का भी एक खतरा है यह यतअल्लमहुल मुनाफिकून फयुजा दिलून अभिल मोमिन इबन कशीर में है पर कुरान मुनाफिक भी पढ़ जाएंगे और दरस कुरान के मुनाफिक भी देंगे और कुरान पढ़ के मेरे गुलामों से झगड़े करेंगे इस बुनियाद पर ये सारी बातें तो बयान हो चुकी हैं और ये बहुत जल्द जब सिहाबा के आखिरी अहद में ऐसा फतूर खारजियों का पैदा हो गया तो हजरत अमर ने अपने बेटे फराज को जो खारजियों का जलसा सुनने चला गया था सिहाबी रसूल ने अपने बेटे को रस्सियों में जकड़कर कमरे में बंद कर दिया मखाफत आई यलहका बेहम पर मेरा बेटा कमरे में मर जाए मुझे मंजूर है मगर मैं किसी खारजी मुफसर का तर्जमा इसको नहीं सुनने दूंगा और किसी का मैं दरसे कुरान नहीं सुनने दूंगा इसको इस वास्ते कि जिसका अकीदा गलत है अगर उसके पास जाके मेरा बच्चा बैठेगा सिहाबी अपने बच्चे को खारजी के दर्श कुरान से रोक रहे हैं कि चूंकि इनके लोगों के अकीदे कुरान पढ़ के भी गलत है तो मैं अपनी औलाद को उन लोगों का दर्श नहीं सुनने दूंगा जिनका अकीदा और नजरिया झूठा है और कुरान की आड़ में अपने अकीदे को वो पेश करना चाहते हैं इस मुख्तसर सी तमहीद के बाद आज जो आया करीमा हम इस सिलसिला में पेश करना चाहते हैं ये बड़ी ही मशहूर आया करीमा इस लिहाज से कि पूरी दुनिया में अहल हक पर इस आयत के जरिए से शिरक का फतवा लगाया जाता और ये जब से इबन अब्दुल वहाब की जरूरीत इस दुनिया में आई और उनका बतौर खास हिजाज मुकदस पर अमरीका बरतानिया की वजारत खारजा के साथ जब कंट्रोल हो गया उस वक्त से ऐसा प्रापोगंडा हुआ और फिर हर साल हज के मौका पर जो है वो ऐसा लिटरेचर बासठ तिरसठ जबानों में और करोड़ों रुपए खर्च करके तकसीम किया जाता है और ये सदाकत अहल सुन्नत के मसल की कि उनके इतने खर्चे के बावजूद आज भी सुन्नी अकीदा अपनी पूरी आबोताब के साथ मौजूद है इस सिलसिला में ये सूरह आराफ उसके अंदर आयत नंबर एक सौ चौरानवे जो मैंने खुतबा में पढ़ी खाल के कायनात फरमाता इन न लजीन तदऊन मिनदून इबादन अमसालुकुम बेशक वो लोग जिनको तुम अल्लाह के सिवा पूजते हो वो बंदे हैं तुम्हारी मिशन फदरूहम फल यस्तजीबूला तुम उन्हें पुकारो चाहिए कि वो तुम्हारी बात का जवाब दे इनकुन तुम साद यकीन अगर तुम सच्चे हो ये आयत करीमा इसको आज की इस गुफ्तगु में हमने समझना इसमें दो चीजें काबिल गौर है पहली चीज है तदरूना इन लजीना तदऊन मिन दूनिल्ला इस तद ऊना में जो वारदात है वो ये है कि तद ऊना का मन है ताबुदूना कि जिनकी तुम इबादत करते हो जिनको तुम पूछते हो लेकिन वारदात वाले इसका माना करते हैं जिनको तुम पुकारते हो तद ऊना इस मकाम पर इन लजीना ऊना मिन दूनिल्ला ऊना का लफ्ज जो है इसके जरिए से वारदात की जाती है तद ऊना का इस मकाम पर मान है ताबुदूना कि जब कुरान नाजिल हुआ और मक्का शरीफ में कुरान मजीद का नजूल हो रहा था और मुशरकिन मक्का जो बुतों के पुजारी हैं उनको दावत हक दी जा रही थी तो कहा गया इन लजीन तदऊना जिनकी तुम इबादत करते हो अल्लाह के सिवा वो कौन है इबादन अमसालकुम वो तुम्हारी मिसल बंदे हैं अब लफ्ज इबाद बोला गया इस बंदे से मुराद क्या है ममलूक है मखलूक है मकदूर है जैसे तुम रब जलाल के हुक्म के ताबे हो ऐसे वो भी बुत भी हुक्म के ताबे हैं लफ्ज इबाद जामिद पे बोला गया लफ्ज इबाद मूर्ति पे बोला गया लफ्ज इबाद बुतों पे बोला गया लेकिन इस लफ्ज इबाद से मुराद अल्लाह के वली लेना इस लफ्ज इबाद से मुराद इंसान लेना और इस लफ्ज इबाद से मुराद मुकदस नफूस जो फौत हो चुके हैं उनको लेना ये वो फितना है कि जो इस तहरीक से पहले कहीं इसका कोई तर्जमा नहीं था इन लोगों ने इस आयत में दो मकाम पर गड़बड़ की एक तदऊना में और दूसरा इबाद में और यह गड़बड़ मैं अपनी तरफ से नहीं बयान कर रहा यह गड़बड़ कुरान खुद बयान कर रहा अगर कबल दे तो वो बताएगा कि यह तर्जमा झूठा कि अगर तद ऊना कमाना पूजना करोगे तद ऊना कमाना पुकार ना करोगे तो तर्जमा झूठा होगा और दूसरा इबाद से मुराद अगर इंसान लोगे इबाद से मुराद इंसान बंदे का लफज जो है वो मखलूक पे बोला गया है ममलूक जो चीज है उसको बंदा कह दिया जाता है तो रब्बुल जलाल के इस कुरान में इबाद का मतलब है ममलूक ममलूक जो किसी के मिल्क में हो जो किसी के आर्डर के नीचे हो और ये कायनात की हर चीज जो है उसको इस तरह ताबीर किया जाता है इन कुल्ल मनफी समावात वलर्द इलात रहमान अब्दा अब वहां हर चीज पर जो आसमानों में है और जमीनों में है उस पर अब्द का इतला कर दिया गया है तो यहां पर जो इबाद का लफज और तदूना का जो लफज है इसके लिहाज से अब बात को समझना है वारदात क्या है कि इसका माना तदूना का माना किया जाता है पुकारना और इबाद का माना किया जाता है बंदे बंदे और बंदा माना करना गलत नहीं लेकिन उससे मुराद इंसान जो के वली है वो मुराद लेना ये गलत है बंदे बोल के मुराद ममलूक है ममलूक मखलूक वो अगर मुराद लेंगे तो फिर गलती नहीं होगी और अगर उससे मुराद इंसान लिए जाएंगे अपनी तरफ से तो फिर इसमें गलती हो जाएगी इस सिलसिला में मैं कुरान मजीद का जो उसलूब है उसकी वजाहत के लिए पहले चंद वो तफासिर जिस पर पूरी उम्मत का इत्तेफाक और तफसीर मासूल जो सनद के साथ तफसीर की जाती है जिसमें बतौर खास तफसीर तिबरी है इबन जरीर और इस तरह तफसीर कुर्तबी है तफसीर बहरुलमुहित है और दीगर सारी तफसीरें यानी इनके फितना की विलादत से पहले पूरी उम्मत में तुम्हें एक भी ऐसा मुफसर नहीं मिलेगा कि जो इस मकाम पर तद ऊना का माना जो है वो पुकार पुकारना करता हो सारी उम्मत का इतफाक है कि तद ऊना का यह माना यहां पर पूजा करना है बंदगी करना है इबादत करना है पुकारना नहीं है और वो इसका माना पुकार करके ये सदा या गौसे आजम की ये सदा या रसूल अल्लाह सल्लम की उस पर ये ऐप फिट करना चाहते हैं और इबादुल अमसालुकुम जो बुतों का लफज है वो नबी अलैहिस्सलाम की जात पे बोलना चाहते हैं सैयद आलम नूर मुजस्म शफी मुजम सल्लाम की जात पर इबादुल अमसाल हुकुम का लफज फिट करके फिर अपनी तरफ से शिरक का जो फतवा है उसकी दलील देना चाहते हैं कि महाज माजल्ला जो बंदा दुनिया के किसी कोने में बैठकर या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु कह रहा है वो मक्का के मुशरकों से बड़ा मुशरक है यानी ये उन्होंने अपनी किताबों में लिखा कि सिर्फ सिंगल मुशरक नहीं कहते अबू जाल से इन लोगों का शिरक बड़ा है जो दुनिया के किसी कोने में या कहीं भी बैठ के नबी सलाम को पुकारते हैं या उलिया को तो ये क्यों मुशरक है कहता कुरान कह रहा है इन लदीन लदीना तदून मिनदून इबादन अमसालुकुम तो इस तरह यानी इन अल्फाज कुरान से जिनके अंदर नूर है जिनके अंदर तजल्ली है इनको पेश करके माजल्ला वो अकीदा बयान करना चाहते हैं जिसकी बुनियाद पर सिहाबा से लेकर आज तक कोई मुसलमान शिरक के फतवे से नहीं बच सकेगा सारे के सारे शिरक की फतवे की लपेट में आ जाएंगे और इतना गंभीर शिरक का जाली फतवा जो पूरी उम्मत में लग रहा है उसकी बेस किस चीज को बनाया कुरान मजीद को और कुरान मजीद को किस तरह वारदात करके दो लफ्जों के अंदर तदऊना में भी वारदात की और फिर इबादुल अमसाल हुकुम के अंदर भी वारदात की इस सिलसिला में जो तफसीर इबन जरीर के अंदर इसकी वजाहत मौजूद है इबन जरीर ने मुकम्मल उसको अपने सनत के साथ बयान किया और इसकी वजाहत अपने अंदाज में मुकम्मल की कालाबू जाफर यकूल जल्ला लिहा लिहाउल मुशरकिन मिन आबातिल असना औसान इबन जरीर कहते हैं कि अल्लाह ये बात मुशरकों से कह रहा इन लजीना तदऊना चूंकि मुखातब का सीगा है ना कि तुम जिनकी इबादत करते हो तो यह कह रहा है किसको अल्लाह मक्का शरीफ के मुशरकों को क्या कह रहा है अल्लाह तबारक बताला उनको झिड़की दे रहा है कि ताबुदूनहा जिनकी तुम इबादत करते हो अल्लाह को छोड़कर जिनकी तुम इबादत करते हो अब पुकारने वाला मतलब नहीं बयान किया इबिन जरीर ने जो पहली तफसीर है सुम्मत की उन्होंने इसका तर्जमा ताबुदून से किया और फिर इबाद का माना क्या किया पर हम अमला कुल रब कुम वो बुत भी रब के मिलक में है इबाद उन अमसाल कुम मिसल किस लिहाज से है वह जैसे तुम रब के मिलक में हो ऐसे वो पत्थर जिन्हें तुम खुदा बना बैठे वो भी रब के मिलक में है तुम्हारा और उनका कोई फर्क नहीं है इस लिहाज से मिसल है अगर ये माना ना ले तो फिर तो आगे पुराने मजीद खुद बयान कर रहा है अल्लाह फरमाता तुम्हारे हाथ हैं उनके तो हाथ ही कोई नहीं तुम्हारी आंखें हैं उनकी तो आंखें कोई नहीं मतलब ये तुम खुद उनसे अफजल हो उन बुद्धों से ए मुशरको तुम अफजल हो अपने अजसाम के लिहाज से अपने आजा के लिहाज से अब ये फर्क रब कर रहा है जब मैं तो पता चला कि तुम उनकी मिसल नहीं हो तो फिर मिसल किस बुनियाद में हो फरमाया तुम भी रब की मखलूक हो वो भी रब की मखलूक है इस बुनियाद पर रबेजुल जलाल उन्हें मिसल कह रहा है और ये वाजे कर रहा है कि जो किसी का ममलूक हो वो रब नहीं होता जो किसी की मखलूक हो वो रब नहीं होता जो किसी का बनाया हुआ हो वो रब नहीं होता जैसे तुम बने हुए हो और तुम रब नहीं हो ऐसे बुद्ध भी किसी के बने हुए हैं तो वो रब नहीं है तो खाल के कायनात जल्ला जलाल हूं मुशरकी ने मक्का को दलील के साथ समझा रहा था कि जिनकी तुम बंदगी करते हो जिनकी तुम पूजा करते हो मुझे छोड़कर मेरे सिवा जिनकी तुम पूजा करते हो ये तुम्हारी तरह ही है नतीजा क्या बना जब तुमने अपने आप को कभी रब नहीं कहा तो इन्हें रब क्यों कहते हो जब तुमने अपने आप तुमने अपना कभी कलमा नहीं पढ़ा कि तुम ये दावा करो उस वक्त के जो मुशरकी ने मक्का बुतों के पुजारी है और खुद अपने बारे दावा नहीं कर रहे उन्हें कहा गया तुम खुद इनसे अफजल हो और अपने बारे में जब आज तक तुमने ये कॉल नहीं किया तो फिर ये भी तुम्हारी तरह मखलूक है ये भी ममलूक है और जब ये ममलूक और मखलूक है तो फिर इनको सजदा मत करो सजदा उसको करो जो सारे जहान को पैदा करने वाला है अब ये तफसीर तिबरी इस आयत के तहत उन्होंने इसको बयान किया हम अमला कुल रब कुम कमा अन तुम लहू ममालिक जैसे तुम रब के मिलक में हो ऐसे ये पत्थर बुतों का भी रब के मिलक में है जैसे तुम रब के मिलक में हो ऐसे ये जिस धात का तुमने पत्थर बुत बनाया हुआ ये भी रब के मिलक में है मिलक में होने के लिहाज से उन्हें इबाद कहा गया और बाकायदा इस मकाम पर मुफसरीन ने सवाल किया कि इबाद का लफज जामिद पे क्यों बोला जा रहा है इबाद का लफज बेजान पे क्यों बोला जा रहा है क्योंकि उमूमी तौर पर जो इबाद का लफ्ज है ये जानदार पे बोला जाता है और यहां पर बेजान पे बोला गया यहां पर बुत पे बोला गया यहां पे जामत पे बोला गया तो इसका बाकायदा इमाम राजी ने तफसीर कबीर में सवाल करके जवाब दिया तफसीर सावी में बाकायदा सवाल करके जवाब दिया गया अलबहरुल मुहित में बाकायदा सवाल करके जवाब दिया गया अगर ये इबाद से मुराद ही इंसान होते तो फिर कोई मुफसर सवाल ना करता फिर तो इंसानों को ही कहा गया फिर तो जिन्हें कहना चाहिए इबाद उन्हें ही कहा गया तो यहां पर बाकायदा सब ने सवाल करके कि इबाद कहा गया बुत को और बुत होता है बेजान जबकि इबाद होते हैं जान वाले तो बुतों को बेजान बुतों को अल्लाह ने इबाद क्यों कहा है ये सवाल करके रब्बुल जलाल के कलाम से फिर सब ने यह जवाब दिया कि यहां पर इस जिहत में कि जिस तरह वो बंदा कि जिसके आजाद जवाब दे चुके हो उसे कोई सुनाई ना देता हो और कुछ उसको खबर ना आती हो और अपना नफा नुकसान ना जानता हो इस जेहद में बुत उसके साथ मुश्तरक है ये बुत ना सुन सकते हैं ना दे सकते हैं ना देख सकते हैं ना समझ सकते हैं ना समझा सकते हैं इस जहद की बुनियाद पर रब्बुल जलाल ने उन बेजान चीजों पर भी लफ्ज इबाद का इतलाक फरमा दिया है अब इस सिलसिला में तफसीर कुर्तबी के अंदर जो इसकी वजाहत की गई तफसीर कुरतबी में ये आराफ की जो आयत नंबर चौरानवे है कहा गया इन लदीन तदून मिंदून माना क्या है ताबुदून तदऊना का माना क्या है ताबुदून उर्दू में क्या बनेगा पूजते हो ना के पुकारते हो अब पुकारना और पूजने में फर्क है पुकारता मोमिन उम्मती है अपने नबी सलाम को मगर पूजता नहीं है पूजा रब को जाता है और पुकारा रब के बंदों को भी जाता है चलो उस पुकार का कोई कायल नहीं तो आज जब मुश्किल बनती है तो ये पुकारता है कि मेरे भाई फौरन पहुंचो मैं मर रहा हूं अगर पुकार ही पूजा है तो फिर तो ये हर वक्त हर जगह ये शिर किया जा रहा कि पुकार पर पूजा का इतला कर दिया जाए पुकार और चीज है और पूजना और चीज है लफ्ज दुआ पुराने मजीद में उस ये मुश्तरक है इसका माना पुकारना भी है इसका माना पूजना भी है मगर उसलूप बयान करेगा कि इस मकाम पर इसका माना क्या है अब इसी आयत के अंदर दो बार इसका इस्तेमाल हुआ और दो बार का इस्तेमाल ही वजाहत कर रहा है कि जिसे थोड़ी सी भी कुरान की समझ होगी वो इस तदऊना का माना ताबदून करेगा पुकारना नहीं करेगा बल्कि पूजना करेगा अब ये सारी उम्मत के मुफसरीन एक तरफ और बहादी सोच एक तरफ सारी उम्मत के मुफसरीन वो सारे मुहदसिन उनकी मुश्तरका एक ही बसीरत है जो सहाबा से चल के आई है इस मकाम पर किसी ने माना जो है वो पुकारने के साथ नहीं किया इस यानी पूजने के साथ किया है और पुकारने के साथ नहीं किया अब ताबुदून से माना किया और इसको अगर आयत में समझे तो उससे भी पता चलेगा कैसे कि खाल के कायनात जल्ला जलालू इर्शाद फरमाता है इन लजीन तदून मिंदून इबाद उन इबादन अमसालुकुम जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पूछते हो तुम्हारी तरह ही ममलूक हैं जब तुम ममलूक हो तो अपने आप को रब नहीं समझते तो वो भी ममलूक है उन्हें तुमने रब क्यों बनाया हुआ है आगे अल्लाह फरमाता फद ऊ होम पुकारो उनको अब वही लफ्जे दुआ फद ऊ होम फल यस्तजीबू लकुम बुलाओ इन्हें ये फिर तुम्हें जवाब दे अगर ये सच्चे हैं तो अब यहां पर ये जो दूसरी बार लफ्ज फद फदऊम आया है अगर पहले तद तदऊना कमाना भी पुकारना है तो फिर तो कलाम में लग लाजमा आ फिर तो ऐसे जैसे कहा जाए आबे जमजम का पानी है जब पहले उनको कहा ही ये जा रहा है कि तुम बुतों को पुकारते हो तो आगे फिर क्यों कहा जा रहा है पुकारो जब पुकार पहले ही उनसे साबित है जब वो धंधा ही पुकार का करते हैं जब वो हर वक्त बुतों की पुकार में है तो फिर वो काम तो पहले कर रहे हैं और जो काम पहले कोई उसमें मसरूफ हो उसे यह कहना कि ये काम करो अब जो नमाज पढ़ रहा है उसे कहो नमाज पढ़ो जो रोजा रखे उसे कहो रोजा रखो जो खाना खा रहा है उसे कहो खाना खाओ तो अगर देख रहे हो कि वो खाना खा रहा है और फिर कहते तो नहीं नहीं खाना खाओ तो वो कहेगा मैं तो खा रहा हूं क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि मैं खा रहा हूं अब जो काम पहले हो रहा हो दोबारा उसका हुक्म देना यही काम करो ये तहसील हासिल है तहसील हासिल लघव है और अल्लाह का कलाम लघव से पाक है इस बुनियाद पर जब रब जलाल इस आयत में हुक्म दे रहा है कि फदू हम पुकारो तुम अपने बुतों को वो पता लगता है तुम्हें कि जवाब देते हैं या नहीं देते उन्हें चाहिए कि जैसे तुमने माना हुआ वो तुम्हें जवाब दे अब रब जलाल का नए सिरे से उन्हें हुक्म देना कि पुकारो तुम ये इस बात की दलील है कि पहले जो तद ऊना है वो पूजने के माना में है वो पुकारने के माना में नहीं है अगर वो भी पुकारने के माना में होता तो पुकार वाला मतलब तो साबित था फिर आगे अल्लाह कहता तुम पुकार रहे हो ये जवाब नहीं देते अल्लाह कहता आप पुकारो कि पता चले कि ये जवाब नहीं देते तो पता चला कि जो पहला तद ऊना है वो पुकारने के माना में नहीं वो पूजने के माना में है अब देखो खुद कुरानी आयत इसको बस बाजे कर रही है और कुरान मजीद की दूसरी आयात की तरफ जाना तो बाद का मामला उसी आयत में चार लफज बाद वो लिखा हुआ है जिससे पता चल रहा है कि अरबी जुबान में एक एक लफज के हजार हजार मानी भी है और इतनी वसत है अब दुआ का माना पूजना भी है दुआ का माना पुकारना भी है बस परस्त पूजते हैं अपने बुतों को और फिर उनको पूजते हुए पुकारते हैं और अल्लाह के बंदे भक्त के सिवा किसी को पूजते नहीं है बंदगी सिर्फ और सिर्फ खुदा की जात की है और रब की दी हुई तोफीक से रब वालों की ताकत को तस्लीम करते हैं अब यहां पर तफसीर कुर्तबी पेश कर रहा हूं तफसीर कुरतबी के ये अल्फाज इन लदीना तदऊना का माना किया ताबुदूना कि जिनकी तुम अल्लाह के सिवा इबादत करते हो मिंदून अल्लाह का माना किया गैर अल्लाह कौन है ये कहते सुमियत औसान इबादा इमाम कुरतबी कहते औसान का नाम रब ने इबाद रख दिया औसान बसन की जमा बुतों का नाम रब ने क्या रखा इबाद लेहा ममलू का तो है मुसखरा कि जैसे इंसान रब के हुक्म के आगे इनकी मजाल नहीं कि कोई दम मारे ऐसे बुद्ध भी रब के हुक्म के ताबे मुसक्कर हैं ममलूक हैं पर इस निस्बत की बुनियाद पर रब ने इबाद उनको कह दिया वो जो मदीना शरीफ में जो मक्का शरीफ में जब ये कुरान नाजिल हुआ और मक्की मक्की जिंदगी में मुशरकिन को बतौर खास जब समझाया जा रहा था तो वहां पर मैं पूरे वसूख से और हजार हा अहादीस के जखीरे पर नजर रखते हुए इस बात को ऐलान कर रहा हूं इस तफसीर में रब्बुल जलाल ने उन बुतों के खिलाफ यह आयत नाजिल की और बुतों के पुजारियों के खिलाफ यह आयत नाजिल की और यह है इस वक्त का सबसे बड़ा जुलम और सबसे बड़ी ख्यानत के जो रब्बुल जलाल ने बुतों की मजम्मत की उसे खेच के रब के वलियों पर चश्मा किया जा रहा है यह है वारदात और इस सिलसिला में अब देखो सारी उम्मत तो झूठ नहीं हो गई ये कुर्तबी को तो इमाम अहमद रजा बरेलवी ने नहीं पढ़ाया ये इबन जरीर तो बरेली शरीफ का शागिर्द नहीं है पूरी उम्मत की हर सदी का मुफसर इस बात की वजाहत कर रहा है कि यहां पर अवसान और बुतों की बात हो रही है और बुतों के जो पुजारी हैं बुतों की पूजा करने वाले उनको रब्बेजुल जलाल कह रहा है ये तुम्हारी मिसल इबाद है इबाद का मतलब क्या जैसे तुम ममलूक हो ये भी ममलूक है जब तुम्हें अपनी सलाहियत का पता है और तुम्हें पता है कि रब के सामने तुम अकड़ नहीं सकते जब जैसे तुम नहीं अकड़ सकते ये तुम्हारे पत्थर भी नहीं अकड़ सकते बल्कि अल्लाह ने फरमाया तुम तो इनसे अच्छे हो इस लिहाज से कि तुम्हारे हाथ भी चलते फिरते हो तुम देखते हो वो तो ये भी नहीं कर सकते जब तुम ये सिफ्त रख के भी रब के हुक्म के ताबे हो तो जिनमें यह सिफ्तें नहीं उनको तुमने कैसे रब मान लिया है इस अंदाज में यानी खाल के कायनात जल्ला जलालहू ने मजमून को तरक्की के साथ आगे बढ़ाया है और यहां ये कुर्तबी कह रहे हैं कि ये है ममलूक इबाद से मुराद ममलूक है और बुत है अब कहते लम्मा ए तकदल मुशरकून अन असनाम तदुर्रो व तनफाओ अजराहा मजरन्नास कि जिस वक्त मुशरकों का अकीदा था कि बुत नुकसान भी दे लेते हैं बुत नफा भी दे लेते हैं तो नफा नुकसान देना जाहिर तौर पर ये इंसानों का काम है कि किसी को कोई फायदा दे दे किसी को कोई नुकसान दे दे तो रब जलाल ने उनके गुमान के मुताबिक जैसे मुखालत की सोच के मुताबिक बात कर दी जाती है तो अल्लाह ने उन मानने वालों के बुतों के मानने वालों के जहन के मुताबिक बुतों को इबाद कह दिया कि तुम ये बनाए हुए हो तुमने इन्हें इबाद समझा हुआ है और तुम इनकी ऐसी सिफतें मान रहे हो हालांकि तुम्हारी अपनी सिफतें इनसे ज्यादा ताकतवर है जब बंदे हो के तुम इनसे ताकतवर हो तो तुमने इनको कैसे अपना मौला बना रखा है इसकी मिसाल जिस तरह क्यामत के दिन अल्लाह फरमाएगा मुशरकों को ऐना शुरा का हुकुम कहां है तुम्हारे शरीक जो तुमने मेरे शरीक बनाए तो इसका यह मतलब नहीं है कि रब मान गया कि मेरे शरीक है मतलब यह है कि रब मुखालिफ के जेन के मुताबिक बात कर रहा है कि मेरा तो कोई शरीक नहीं लेकिन तुमने बनाए हुए थे तुमने जो बनाए हुए थे पेश करो अब तो ऐसे ही यहां पर मुशरकिन मक्का का जो जहन था कि ये दे सकते हैं ये फायदा कर सकते हैं और देना और फायदा करना इस लिहाज से अल्लाह ने उनके जहन के मुताबिक फरमाया ये तो इबाद है जैसे आगे जाके तुमसे कुछ नहीं हो सकता और तुम रब के ममलूक हो ऐसे ये भी रब के ममलूक हैं रब का हुक्म ना हो तुम हाथ नहीं हिला सकते इनके तो हाथ है ही नहीं ये क्या करेंगे तो खाल के कायनात जल्ला जलालू ने इमाम कुर्तबी कहते हैं कि उन मुशरकिन के गुमान के मुताबिक जो बुतों की हैसियत थी उसके मुताबिक इबाद का लफज उस पर बोल दिया कि वो शक्ल ऐसी बनाते हैं जैसी इंसानी शक्ल होती है कहा बुतों को कहा और इबाद का लफज इसलिए बोला कि उन्होंने बुतों को इबाद के साथ मिलाया हुआ है और खाल के कायनात फर्क बयान कर रहा है कि बुतों में भी और इबाद में भी फर्क है जब बुत कि हम पल्ला नहीं हो सकते तो बुत फिर रब के बराबर कैसे हो सकते हैं इस मकाम पर जो तफसीर खाजिन है उसके अंदर बड़ी तफसील के साथ कहा गया यानी अनल असनामा अल्लती या बुदुहा हा उला मुशरकून इन न ममलू का तो लिल्ला इमाम खाजन कहते हैं कि इन लजीना तदूना से मुराद क्या है फरमा वो बुत जिनके ये मुशरक इबादत करते हैं इन न ममलू का तो लिल्ला है अमसाल हम फरमाया जैसे कुफार रब के मिलक में है ऐसे बुत भी रब के मिलक में है ये खाजन भी वही बात बयान कर रहे हैं यानी पूरी उम्मत इस बात पर मुतफिक है कि इबादुल अमसालुकुम जो ने कहा गया बुतों को तो इस चीज में निस्बत इस लिहाज से तशबी दी जा रही है क्या मुशरको तुम भी रब के मिलक में हो और ये बुत भी रब के मिलक में है जो किसी के मिलक में हो उसकी मजाल नहीं कि उसके आगे खड़ा हो सके तो ये जिनको तुम रब के सामने खड़ा करना चाहते हो ये कैसे खड़े हो सकते हैं तुम भी ममलूक हो ये भी ममलूक है तो ममलूक का मतलब समझाने के लिए रब्बुल जलाल ने उन पर इबाद का इतला किया और इबाद का लफज जामद पर और बेजान चीज पर उनके गुमान के मुताबिक किया जो गुमान मुशरकिन मक्का उनके बारे में अपना बनाए हुए थे और इस मकाम पर आगे तफसीर बहरुल मुहित उसमें इन लजीना तदून मिंदून सूर्य आराफ की इस आयत में कहा गया सुमयल असनाम इबादा यहां पर बुतों को इबाद कहा गया यानी हर हर मुफसिर यह गवाही देता है सुमयल असनामो इबादा कि अमसाल इबादुन अमसालुकुम वलियों को नहीं कहा गया इबादुन अमसालुकुम इंसानों को नहीं कहा गया क्योंकि यहां पर बुत है और बुतों को इबाद कहा गया तो लफ्ज इबाद जिस तरह बाकी मखलूकत पे बहसीत आजिज के इसका इतलाक होता है और बुत को यह जहर करने के लिए कि अल्लाह के मिल्क में है रबुल जलाल ने उन पर इसका इतलाक फरमा दिया वो इन कानत जमादात इमाम बहर मुहित में इबन हयान कहते हैं कि अगरचे वो जमादात है लेकिन फिर भी रब ने इबाद कह दिया लेन नहुम कानू या तकदून फीहा इस वास्ते कि मुशरकों का अकीदा था अन्हा तदुर्रो व तनफाओ कि ये फायदा दे लेते हैं ये नुकसान भी दे लेते हैं तो मुशरकों का अकीदा था ये फायदा देते हैं ये नुकसान देते हैं तो रब्बुल जलाल ने उनके अकीदे को मद्देनजर रख के उन्हें उनकी मालूमात के मुताबिक समझाने के लिए कि तुम जो नजरिया बनाए हुए उसके मुताबिक भी ये रब नहीं बन सकते इस वास्ते कि ये इबाद है ये ममलूक है ये मेरे कंट्रोल के नीचे है ये मेरे हुक्म के ताबे हैं इनका वजूद मेरे तखलीक से ये पत्थर पैदा हुए हैं अपना इनका कोई वजूद न था तो खाल के कायनात जिला जलाल हूं ये अल्फाज इस्तेमाल करके मुशरकों को बतदरीज इस बात की तरफ लाना चाहता है कि जो तुमने इनको खुदा बना लिया तो ये तुम भूल में हो ये तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकते तुम्हारे रब का मुकाबला कैसे कर सकते हैं अब इस मकाम पर आगे जो लफ्ज बोले रब जलाल ने तो वो क्या है खाल के कायनात फरमाता आलहम अर्जुलू यमशू न बिहा क्या है इनके हाथ जिनसे ये चलते है इनके कदम जिनसे ये चलते आलाहुम यमशू न बेहा है कदम जिनसे चलते हैं लहुम ऐदी यबतशूना बेहा क्या है हाथ इनके जिनसे ये पकड़ते हैं युब सिरू युबसिरूना बेहा क्या है इनकी आंखें जिनसे ये देखते हैं अमलहुम आजानु न बेहा क्या है इनके कान जिनसे ये सुनते हैं तो अल्लाह तबारक वाली इस्तीफाम इनकारी से नहीं कर रहा है ये जो तुमने घर के रखे हुए इनके तो हाथ भी नहीं है मुतलक नहीं फरमा वो जिनसे पकड़ सके इनके कदम भी नहीं कि वो जिनसे चल सके इनकी आंखें भी नहीं कि वो जिनसे देख सके और इनके कान भी नहीं कि वो जिनसे सुन सके और मक्का के को तुम में से कौन है जिसके कदम ना हो और तुम में से कौन है जिसके हाथ ना हो और तुम में से कौन है कि जिसकी आंखें ना हो और तुम में से कौन है कि जिसकी जुबान ना हो ये उनको शूर दे रहा है कि कितनी तुम्हारी मत मारी गई है जो तुमसे अदना है उनको तुमने रब के मुकाबले में खड़ा कर दिया ये तो तुम्हारे हम पल्ला नहीं हो सकते ये रब की बराबरी कैसे करेंगे कहां इनके हाथ जिनसे पकड़े कहां इनके कदम जिनसे ये चले कहां इनकी आंखें जिनसे ये देखे कहां इनके कान जिनसे ये सुने इनमें कोई सिफ्त भी मौजूद नहीं है और तुम में सब में ये सिफतें मौजूद हैं तुम्हारे हाथ भी हैं तुम्हारे कान भी हैं तुम्हारी आंखें भी हैं तो खाल के कायनात जल्ला जलालू उनको झंझोड़ के तोहीद की तरफ लाना चाहता है कि ये तुम बड़ा जुल्म कर रहे हो कि शान स्टेटस के मुताबिक किसी की बयान की जाती है ये तो इंसानी मरतबे पर भी आने के काबिल नहीं तुम इसको रहमानी मरतबे तक पहुंचा रहे हो और अल्लाह की उलूहियत तक ले जा रहे हो तो खाल के कायनात जल्ला जलालू ने इस तरह मिसाल देकर उन लोगों को समझाया अब सिवाय बुत के और किसी तरह इसकी वजाहत नहीं हो सकती उन बुतों के लिहाज से ये सारी चीजें उनकी बयान करके अल्लाह फरमाता है कि ये इनमें नहीं है और तुम में ये है लिहाजा तुम्हें अपने बारे में सोचोगे वफी अनफ से कुमाफला तुम से रून अगर अपनी जात में गौर करो तुम्हें पता चलेगा कि अल्लाह वाहदउला शरीक है अब यहां पर सैयद आलम नूर मुजस्म शफी मुजम सल्लल्लाहु वसलम की अहादीस के अंदर जो मौजूद है रोशनी वो एक तवील मजमून है जिसमें ये इर्शाद फरमा दिया जो हदीस सनत के लिहाज से हर लिहाज से आ, हर गुबार से पाक है कि जिस वक्त एक अबदा अबद खास एक बंदा नवाफिल फराइज तो फराइज रहेगा नवाफिल पर भी पाबंदी करता है तकर्रब हासिल करता है अल्लाह फरमाता कुन तो सम आहुल्लजी यशमऊ भी मैं उसके कान बनता हूं जिनसे वो सुनता है बासरदी योग से रो भी मैं उसकी आंख बनता हूं जिससे वो देखता है मैं उसकी मेरी कुदरत उसके कदम बन जाती है जिनसे चलता मेरी कुदरत उसके हाथ बनती है अब जिनसे वो पकड़ता है ये मकाम एक इंसान को मिल गया कि जिसके आजा में रब की कुदरत है और उधर बुत है इधर वली है और फर्क कुरानो सुन्नत ने बयान किया कुरान ने बयान कर दिया कि बुत का हाथ नहीं पकड़ सकता और सुन्नत ने बयान किया वली का हाथ कुदरत इलाही का मजर होता है वो बैठे बगदाद में हाथ कायनात के दूसरे कोने में जा सकता है अब इस चीज से ये वाजे हो रहा है कि रब जो ताने दे रहा है ए मुशरको अपने बुतों को देखो कहां है इनके हाथ कहां है इनके कदम कहां है इनकी आंखें कहां है इनके एक कान रब्बे जलाल उधर ये फरमाता है इधर हदीसे कुलसी है और मेरे बंदे की कुदरतों पर तुम कोई शक न करो क्योंकि मेरी कुदरत उसके हाथों में दाखिल हो चुकी है मेरी कुदरत है कि जिसकी वजह से वो पकड़ता है चलता है फिरता है और यहां इतनी वजाहत के बावजूद फिर भी बातल परस्त ये इसकी वजाहत करना चाहते हैं कि अल्लाह उसकी कुदरत अल्लाह की कुदरत कानों में आ जाती है मतलब क्या वो पसंद वो सुनता है जो रब को पसंद हो वो देखता है जो रब को पसंद हो वो पकड़ता है जो रब को पसंद हो और उधर जाता है जो रब को पसंद हो यह मतलब है ना कि यह मतलब जो तुम बयान कर रहे हो कि बैठता कहीं है पकड़ कहीं से लेता है और पूरी कायनात में उसको तसरफ की ताकत मिल जाती है तो यह माना जो लोगों की तरफ से बयान किया जाता है ये एक फीसद भी अल्फाज में इसकी गुंजाइश नहीं है इस वास्ते कि जिसे रब अपना वली बना ले और महबूब बना ले और अभी तक उसके कान गंदे हो तो वो वली बनेगा कैसे उसने ये कोर्स पहले किया है कि वो सुनता है जो रब को पसंद है वो देखता है जो रब को पसंद है यानी जो स्टेज है कि जब अल्लाह की कुदरत कान बन जाती है बंदे की इससे पहले का निशाब बाद में बनाया जा रहा है इसने अपने आप को पाबंद किया अपने आजा को कि मेरी जुबान वो बोलना है जो मेरे रब को पसंद है मेरी आंख तूने वो देखना है जो मेरे रब को पसंद है और मेरे कान वो सुनना है जो रब को पसंद है और मेरे हाथ वो चीज पकड़नी है जो रब को पसंद है इसने कई साल ये चिल्ला काटा फिर रब ने इसे अपना महबूब बना लिया अब जाके रब की कुदरतें आ गई हैं तो ये कैसे है मगर फिर उसको जीरो पॉइंट पे लाके खड़ा करना चाहते हैं अल्लाह तो बतौर इनाम यह दे रहा है कि बंदो तुमने मेरे यहां मजदूरी की मैंने अपनी कुदरत का तुम्हें मजहर बना दिया तुम मखलूक हो तुम मकदूर हो मेरी अता के बगैर तुम कुछ भी नहीं हो मगर उस रब का जलवा अगर लकड़ी पे जा गिरे और मूसा सलाम का आशा लाखों जादूगरों के सांप हड़प कर जाए तो शिरक नहीं बनता तो ईद ही बनती है लकड़ी को अजमत मिल गई लकड़ी ने मुश्किल कुशाई कर ली लकड़ी ने हाजत रवाई कर ली लकड़ी में पावर आ गई इससे शिरक नहीं बना इससे तो ही जहर हुई है अगर लकड़ी में पावर आ जाए तो शिरक नहीं वली में आ जाए तो फिर शिरक क्यों है मोहतशम सामी हजरात अब देखो यानी थोड़ी सी भी अगर बंदे की अकल सलामत हो तो वो इस जगह गलती नहीं कर सकता लेकिन यहां उन्होंने गलती नहीं की जानबूझ के ये किया वो बातिल से उधार खाए हैं और उनका मकसद यह है बरतानवी वजारत खारजा से उस वक़्त का उनका मुआदा है मेरे पास उसकी फोटो कापी मौजूद है जिसमें उस वक़्त यह तय हुआ था कि ये ये काम तुमने हमारे लिए करने हैं और ये उस तरह वो काम सारे उनकी मर्जी के मुताबिक कर रहे हैं और ये अब एक आयत में देखो दो वारदाते हैं एक है तदूना में और दूसरी है इबादन कुम में और वारदात फिर इस कदर है अब ये कुरान मजीद है ना जो हाजियों को गुमराह करने के लिए हर साल लाखों की तादाद में तकसीम किए जाते अब इसमें देखो इस तर्जमे को बयान करते हुए यह कहा गया लिखा है बाकी तुम अल्लाह को छोड़कर जिनकी इबादत करते हो वो भी तुम ही जैसे बंदे हैं आगे हाशी में लिखा गया यानी जब वो जिंदा थे यानी जब वो जिंदा थे तो मतलब यह है कि अब इन्होंने इंसानी सोच को उतराने नहीं देना जो कुरान कहता कुरान ने कहा बुतों को और इनका घर बंदा कहने से पूरा नहीं हुआ फिर साथ ये कहा जब वो जिंदा थे ताकि लोग समझे कि ये वलियों के बारे में है यानी जब वो जिंदा थे कि वो भी तुम्हारी मिसल बंदे हैं यानी जब वो जिंदा थे अब देखो यानी इससे बड़ी कोई खयानत हो सकती है कि रब का कुरान पेश करके अपने जहरीले लिटरेचर पर ऊपर चीनी रब के कलाम की चढ़ा के मिठास और लोगों को खिला देना चाहते हैं लोग जो है इसी में महाजल्ला कितने हजारों तबाह बर्बाद हो जाते हैं और ये देखो वहां से मिला है और ये देखो हमारा उर्दू में लिखा हुआ है और ये इसमें समझाया जा रहा है ना कुरान राजी है ना नबी सलाम राजी है ना अल्लाह राजी है ये मतलब समझा के वो तो इनकी तरफ मुतवजा करता है और बुत थे जिनका बर्स था राइज उस वक़्त और उनको हटाने के लिए रब्बुल जलाल ने कुरान नाजिल किया आज ये फितना जो हर तरफ फैलाया जा रहा है तो इसके पर्दे चाक करना अलहक यह तुम्हारी जिम्मेदारी है इदारा सियात मुस्तकीम पाकिस्तान इसलिए इस कर्ब और दर्द और तड़प को महसूस करता है कि ये तमाम लिटरेचर तमाम आयात इसको फोरम पर लाके समझाया जाए और लोगों के सामने बयान किया जाए कि देखो कुएं को मीनार बना दिया गया मीनार को कुआं बना दिया गया अंधेरे को सवेरा कहा जा रहा है और सवेरे को अंधेरा कहा जा रहा है सारी उम्मत को समझ नहीं आई और आज इन लोगों को समझ आ गई है सारी उम्मत ये कहती है कि यहां पर तद ऊना कमाना ताबुदूना है और ये कहते नहीं तद ऊना कमाना यहां पर पुकारना है किसी वली नबी को अगर पुकारोगे तो शिरक तुम्हारा अबू जाल से बड़ा हो जाएगा और सारी उम्मत कहती है इबादुल अमसाल हुकुम औसान है असनाम है सारी उम्मत की सदियां सारे मुफसर ये कहते हैं और ये कहते इबादन अमसाल से मुराद दाता साहब है ये कहते इबादन सजा साहब है ये कहते इबादन अमसाल से मुराद गौश पाक है अब अपनी तरफ से इन लोगों ने ये जो गड़ा हुआ दीन इस पर जो कुरान का ऊपर लेबल लगाया हुआ है ये वक्त का सबसे बड़ा फितना है जिसको मिटाना लाजिम है ताकि लोग रिलीफ महसूस करें कि हमने शिरक नहीं किया हमने वो यकीदा रखा है जो सुफा वालों को अता किया गया था अब ये आयात कुरान मजीद बुरहान रशीद में आप सब कुरान खोल के देख सकते हैं आगे जाकर एक आयत ने यानी चूंकि अल्लाह को पता है कि ऐसे भी फितने आएंगे तो उसके कलाम ने हर फितने का जवाब खुद दिया है खुद कुरान ने ही बाजे कर रखा है कि जब कोई कुरान को बिगाड़ना चाहे यानी अपनी मर्जी के मतलब डालना चाहे तो आखिर यह अल्लाह का कलाम है यह किसी को चोरी नहीं करने देता हां किसी की बसीरत हो कुरान बता देता है कि फुला चोरी कर रहा है और इस जगह से चोरी कर रहा है यहां पर रबेजुल जलाल ने मुसलसल आगे आयात इस सिलसिला में नाजिल फरमाई वल्लजीन तदऊन मिन दून ही ला यस्ततीऊन नसरकुम वला अनफुसहुम यनसरून वो जिनकी तुम अल्लाह के सिवा बंदगी करते हो पूजा करते हो वो आप तुम्हारी मदद नहीं कर सकते और न ही वो अपनी मदद कर सकते हैं वाला अनफुसहम यनसुरून अपनी भी नहीं कर सकते और तुम्हारी भी नहीं कर सकते अब यहां से भी एक करीना समझ में आता है उन लोगों के बकौल जो कुछ समझाया जा रहा है फिर मतलब यह बनेगा उनके लिहाज से कि अगर कोई कबर में मौजूद फौजशुदा इंसान उसको पुकारा जाए तो फिर तो शिरक बनेगा लेकिन अगर जिंदा को जो भी फौत नहीं हुआ अगर उसे अल्लाह मान लिया जाए तो फिर कुछ नहीं होगा उनकी सोच के मुताबिक उनके नजरिए के मुताबिक क्यों अब अल्लाह फरमाता है ला यस्तून तुम वला अनफुसम जनसरून ना वो तुम्हारी मदद कर सकते हैं ना अपनी कर सकते हैं हालांकि जिंदा बंदा दूसरों की भी कर सकता है अपनी भी कर सकता है कैसे अपने आप को आग में गिरने से बचा सकता है पीछे हट जाए अपने आप को पानी में डूबने से बचा सकता है पीछे हट जाए बात है बुद्ध की अल्लाह फरमाता जो गर्मी में रखे हो तो गर्मी में पड़े रहेंगे अपने आप की मदद नहीं कर सकते सर्दी में रखे तो सर्दी में पड़े रहेंगे अपनी मदद नहीं कर सकते जब अपनी नहीं कर सकते तो तुम्हारी कैसे कर सकेंगे आप बुतों की जगह अगर ले आओ कबरों को और बुतों की जगह उनके कहने पर अगर ले आओ वलियों को तो फिर तुम आजला शिरक का दरवाजा खुल जाएगा उनके कहने के मुताबिक चलो वो जो कब्रों में चले गए उनको ना माना जाए लेकिन जो शिफ्टें बयान की जा रही पर अगर ले आओ वलियों को तो फिर तुम आजला शिरक का दरवाजा खुल जाएगा उनके कहने के मुताबिक चलो वो जो कब्रों में चले गए उनको ना माना जाए लेकिन जो सिफतें बयान की जा रही हैं उनके लिहाज से बुतों के लिहाज से वो तो जिंदों में पाई जाएंगी कहा गया बुत को मत मानो तुम्हारी भी मदद नहीं कर सकता अपनी भी नहीं कर सकता तो जिंदा बंदा अपनी भी कर सकता किसी और की भी कद कर सकता तो फिर तो इसको मानने की गुंजाइश निकल आएगी माजल्ला कि जो जिंदा इंसान है उसे इला मान लिया जाए तो कोई शिरक नहीं होता हालांकि मेरे रब के साथ कोई शरीक नहीं ना कोई कमर वाला शरीक है ना कोई बाजार में चलने वाला शरीक है और यह मतलब तब निकल सकता है जब वो समझा जाए जो सुफा वालों को समझाया गया है कि यहां पर इबाद से मुराद बुत है और बुतों की बात हो रही है और रब जलाल फरमा रहा है ना वो तुम्हारी मदद कर सकते हैं और ना अपनी मदद कर सकते हैं लिहाजा ऐसे जो है उनको तुम अपना क्यों मबूद बनाते हो मबूद उसे बनाओ जो तुम्हारी भी मदद करता है और सबकी मदद करने वाला है अब इसमें कौल फैसल अगली आयत है यानी यह मजमून शुरू हुआ था ना चौरानवे से तो आयत नंबर अठानवे उसने सारे पर्दे उतार के रख दिए हाल के कायनात फरमाता है वह इन तद तदूहम इलल हुदा ला यस्माऊ अगर तुम इन बुतों को रहनुमाई की तरफ बुलाओ तो ये सुनते ही नहीं अब बात तो एक ही चीज की हो रही है उनके लिहाज से हो रही है वलियों की हमारे लिहाज से हो रही है बुतों की अब मुसलसल आयात में खिताब अल्लाह तला फरमाता वह इन तद हम इलल हुदा हम तर्जमा करेंगे अगर तुम बुलाओ उन बुतों को हिदायत की तरफ ला यसम वो सुनेंगे ही नहीं क्योंकि उनके कान नहीं वो सुन ही नहीं सकते अब आगे अल्लाह तला क्या फरमाता है फरमा व यन जरू न इलई का वह हम ला यू सिरू ए मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जो मुशरकों ने घाड़ के रखे हुए हैं और इतनी इतनी मोटी इनकी आंखें बनाई हुई हैं तराहम तुम इनको देखते हो यन जरून आई का कि तुम्हारी तरफ नजर कर रहे हैं बहुम ला युब सिरून मगर तुम्हें तक नहीं सकते तराहुम यन जरून इलई का बहुम ला युब सिरून अब यह खिताब है नबी सलाम को तो बताया जाए किस वली की कबर के बारे में अल्लाह ने नबी नबीलाम को कहा तराहुम कि वो तुम्हें नजर आ रहे हैं और वो देख रहे हैं और वो तक नहीं सकते किसके लिहाज से जिस वक्त मुखातब का सीगा क्यामत तक के लिए होगा तो अब अल्लाह फरमा रहा ए मुखातब तराहुम तू बुतों को देख रहा है कि वो आंखें फाड़े जिस तरह की उनकी बनी हुई है तुम्हारी तरफ नजर कर दे वह हम लायुब मगर वो देख नहीं सकते अब बुत के लिहाज से तो ये बात समझी जा सकती है मगर कबर वाले के लिहाज से ये बात नहीं समझी जा सकती क्योंकि कबर वाला तो मट्टी में है कबर वाला पर्दे में है उसे तराहम कैसे कहा जाए तराहम अल्लाह फरमाता है मुखातब तू उन्हें देख रहा है जो पर्दे के अंदर है उसे बैर वाला हर मुखातब देख कैसे सकता है तराहम तुम उसे देखते हो यंजरू नहीं का सिर्फ देख ही नहीं रहे उनकी अदाओं को भी देख रहे हो के कमर वाले वो तुम्हारी तरफ नजर कर रहे हैं तो पता क्या चला रोकते थे उनकी फातिया पर पढ़ने से मानना यह पड़ गया कि वो अंदर से देख भी रहे हैं क्योंकि चैप्टर है सारा बुतों का दरोग और हाफजा नेस झूठे का हाफजा नहीं होता अब उसे पता नहीं चल रहा कि आगे यही तो ये तीन आयात के बाद आ रहा है वो आ रहा है अगर पहली बात वली की है तो फिर वो भी वली की बनी माननी पड़ेगी और फिर जब मानेंगे और कुरान ये कहते तरा होम यंजरू का अगर बार दाता साहब की है या गौस पाक की है तो अल्लाह तला फरमाता है मुखातब देख वो तुझे कमर से देख रहे हैं यंजरू का नजर कर रहे हैं तो नजर कर रहे हैं तो उनको अपने मफहूम के लिहाज से भी आगे ऐसा ताला लग जाएगा कि जिसके लिहाज से रास्ता गुम हो जाएगा हम उस हकीकत पर है जो हकीकत सुफा से चल के आई बात है बुतों की बात वलियों की नहीं है और बुतों के मुजस्मे पड़े हुए जिनमें आंखें बनी हुई हैं हाथ बने हुए हैं अल्लाह फरमाता ये वैसे ही है ये जहर तुम्हें खुली आंखें नजर आ रही है महबूब इन बुतों की मगर ये तुम्हें तक नहीं सकते ये तुम्हें देख नहीं सकते अब सारा मफहूम जो बुतों के लिहाज से है वो तो पूरा अगर आयात का माना मतलब सही समझा सकता है लेकिन अगर तदूना कमाना तब ताबूना करना है और इबाद अनुसार से मुराद कबरों के वली मुराद लेने हैं तो फिर कुरान आपस में टकरा जाएगा फिर आयात का आपस में मुकाबला हो जाएगा फिर कुरान मजीद में अपोजिशन बन जाएगी और अल्लाह फरमाता है अफला तदबरून और कुरान लोकानूफी इख्तिलाफन कसीरा लोग कुरान में तदब्बर भी क्यों नहीं करते अगर तदब्बर इतनी कर ले कि कुरान मजीद का मजमून पढ़ ले फरमाया माने बगैर नहीं रह सकेंगे अगर ये गैरुल्लाह का कलाम होता तीसरे पारे में कुछ होता तीसरे में कुछ होता चौथे में कुछ होता आठवें में कुछ होता अल्लाह फरमाता है सब जगह एक ही बात है आपस में कोई तारुज नहीं है कोई आपस में तजाद नहीं है अलहमद से लेकर वन्नास तक पूरे कुरान का आपस में ना टकराना यह इस बात की दलील है कि यह रब का सच्चा कलाम है इस बुनियाद पर अब इस आया करीमा के माँ कबल माँ और खुद आयत के अपने अल्फाज अंदर ही जो दूसरे नंबर पर फजूहम रबेजुल जलाल ने इर्शाद फरमाया इससे यह पता चल गया कि जो लोगों ने यहां पर खयानत की और मफहूम को बिगाड़ने की कोशिश की उस पर पर्दा नहीं डाला जा सकता कुरान पर्दे उतारने वाला यानी कुरान अपनी हकीकत को वाजे कर रहा है और फिर आलम अर्जुन ये ये जो लफ्ज बोल दिए रब्बुल जलाल ने सात मुतसिल आयत में तो खाल के कायनात ने हिकमत और तदबीर के साथ मुशरकिन मक्का को तोहीद का पैगाम दिया तुम खुद जिस वक्त देखते हो कि तुम्हारी अपनी शख्सियत जो है एक मुशरकिन मक्का तुम्हारी अपनी कुवतें तुम्हारी अपनी सिफतें इनसे कहीं दर्जा अच्छी है और तुम जो कुछ कर सकते हो ये नहीं कर सकते और फिर उफ है तुम्हारी अकलों पर कि तुमने इतने नाकारा जो है उनको उतनी बड़ी जात तक पहुंचा दिया जो तुम्हारे हम पल्ला नहीं हो सकते तुमने रब के हम पल्ला बना दिया उनको और उनको मबूद बना दिया तो खाल के कायनात जल्ला जलालू ने पूरे अपने जाम उसलूब के साथ इसको बयान किया है मेरी दुआ है जलाल हम सबको ऐसे मफाहिम समझकर इन्हें आगे पहुंचाने की तोफीक अता फरमा आप जानते हैं कि ऐसे ही अजीम मफाहिम के पेश नजर फामेदीन कोर्स का इजरा किया गया और अल्लाह के फजल से सोलवा सालाना फाहमेदीन कोर्स हमारा जारी मन सन्न सुन्नतन हसनतन जिसने किसी अच्छी सुन्नत का आगाज किया उसको अजर मिलता रहेगा एक तरीका है आज लोगों ने गली गली मोहल्ले मोहल्ले में शुरू किए किसी का दूसरा सालाना किसी का तीसरा किसी का चौथा मगर गोजरा वाला की सरजमीन पे सोलवा सालाना फामेदीन वो हमारा ही है जिस रस्ते का इंतखब हमने किया उसको लोगों ने भी कबूल किया और इसके लिहाज से फिर आगे उन्होंने चाहा कि इस सिलसिले को शुरू किया जाए और ये अहम मजामी रोजाना बयान होते हैं सुबह इंशाला क्यों रिजा आज गली सूनी है एक इनकलाबी मौजू है कि आल सुन्नत को इस वक्त क्या करना चाहिए आल सुन्नत के मुस्तबिल के लिए क्या मनसूबाबंदी होनी चाहिए आल सुन्नत अवाम को ओलमा को मशाइ को अफराद को इज्तमाही इनफरादी तौर पर क्या सोचना चाहिए और क्या अमल करना चाहिए यह कल का मौजू है और परसों इन शतवार के दिन बड़ा मारकतुल आरा ईमानी मौजू है रसूल अल्लाह वसलम के वालदेन करीमैन का ईमान उनकी अजमत वालदेन रसूल सल्लल्लाहु वसल्लम के लिहाज से क्योंकि ये जरासीम भी है आज लोग हाफिज की अजमत मानते हैं कि उसके वालदेन को क्यामत के दिन ताज पहनाया जाएगा और जिनके सीने पे उतरा है कुरान उनके वालदेन के बारे में माजिला जहनवी का लफ्ज बोलते हैं ऐसे बदबख्तों के ऑपरेशन के लिए यह मौजूद रखा गया है आप उसमें भी जरूर शरीक हो वाखिर दावाना